वो एक उम्मत थी जो गुजर गई जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे